अनोशो टॉक कैवल्य उपनिषद नंबर सेवन चाहिए जब चैतन्य ही बचे विषय कोई भी ना हो दर्पण ही हो प्रतिफलन बिल्कुल ना रहे लेकिन बड़ी दूर की है ऐसी स्थिति बहुत मुश्किल मालूम पड़ेगी उस तक पहुंचना असंभव जैसा दिखेगा क्योंकि एक क्षण को तो हमारा मन ठहर नहीं पाता और एक क्षण को तो विचार से छुटकारा नहीं एक छोटे से विचार को भी अलग करना हो तो पराजय हाथ लगती है तो कैसे होगा ये कि सारे विचार समाप्त हो जाएं? एक जरा सी तरंग तो हटा नहीं पाते हैं कैसा होगा कि चित्त बिल्कुल ही निस्तरंग हो जाए विचार से छुटकारा मुश्किल मालूम पड़ता है तो निर्विचार कैसे घटित होगा और अगर यही हो शर्त कि बिना निर्विचार हुए परम तत्व को नहीं जाना जा सकता तो हमारे हृदय में निश्चित ही निराशा पैदा होगी गहन निराशा पैदा होगी और लगेगा कि शायद ये बात पाने की हमारे बस की तो नहीं हमसे ये नहीं हो सकेगा इसलिए समस्त ज्ञानियों ने जिन्होंने जाना है उसे उन्होंने निरंतर ये कहते हुए कि वो नहीं पाया जा सकता किसी पर ध्यान करने से फिर भी ध्यान के लिए विषय बताए ये कहते हुए कि किसी विचार से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता फिर भी विचार के माध्यम सुझाए हैं कि इन विचारों का उपयोग करने से निर्विचार तक जाने की सीढ़ी बन सकेगी इसलिए समस्त धर्म अपनी गहनता में गहराई में भली भांति जानते हैं कि उस तक पहुंचना तो केवल शून्य चित्त व्यक्ति के लिए ही संभव होगा लेकिन शून्य चित्तता बड़ी कठिन है तो शून्य चित्तता और हमारी स्थिति के बीच में कुछ सीढ़ियां बनानी जरूरी मालूम पड़ती हैं ध्यान के संबंध में कैवल्य उपनिषद ने आत्यंतिक बात कहने के बाद इस सूत्र को लिया है ये सूत्र बीच की सीढ़ी बनाता है इसमें हम परमात्मा के किसी आकार को मानकर यात्रा शुरू करते हैं ये आकार अंतिम नहीं इस आकार पर रुकना भी नहीं इस आकार पर पूर्णता भी नहीं पूर्णता तो वही होगी जहां सब आकार खो जाएंगे लेकिन हम इतने आकारों से घिरे हैं इतने आकारों में घिरे मन को समझ में ही आना मुश्किल है कि निराकार में कैसे हो सकेंगे इसलिए ये सूत्र बीच की एक कड़ी को निर्मित करता है वो कड़ी यह है कि बहुत आकारों को छोड़ें एक आकार को पकड़े ताकि एक आकार भी छोड़ा जा सके और निराकार में प्रवेश हो इस एक आकार की ही इसमें चिंतना है इस आकार के संबंध में कुछ शब्द हम समझ लेंगे तो फिर ये सूत्र ख्याल में आ जाएगा जिसे उमा साहेब परमेश्वर नीलकंठ और त्रिलोचन के नामों से पुकारा जाता है जो समस्त चराचर का स्वामी और शांति स्वरूप है जो समस्त भूतों का कारण और साक्षी है जो अविद्या तमस से दूर है उसी को मुनिजन ध्यान से प्राप्त करते कैसे बनाएं उसका आकार जिसका कोई आकार नहीं ये आकार बहुत तरह से बनाया जा सकता है इस आकार को बनाने का अर्थ यह होगा कि हमारे चित्र में जो निराकार को समझने में समर्थ नहीं हो पाता है कुछ ऐसी आकार की भूमिका दी जाए कि भूमिका इस चित्त के समझ में भी आ सके और फिर ऐसी भी ना हो जाए कि पकड़ जाए तो छूट ना सके एक आदमी सीढ़ियों से चढ़ता है सीढ़ी की खूबी यही है कि उस पर हम चढ़ें भी और उससे हम हट भी जाएं। सीढ़ी पर पैर रखते हैं छोड़ देने के लिए ही आदमी एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर चढ़ता है तो हर सीढ़ी को पकड़ता है और हर सीढ़ी को छोड़ता है और अंत में सारी सीढ़ियों को छोड़कर दूसरी मंजिल में प्रवेश करता है सीढ़ी पकड़नी पड़ती है छोड़ने के लिए ही अगर कोई ऐसा समझे कि सीढ़ी को ही पकड़ लेना है तो पहली मंजिल भी खो जाएगी और दूसरी भी नहीं मिलेगी बहुत बार ऐसा होता है तथाकथित बहुत से धार्मिक व्यक्तियों से संसार से भी उनका पैर छूट जाता और परमात्मा तक भी पैर नहीं पहुंच पाता और उनकी स्थिति त्रिशंकु की हो जाती न वे यहां के होते न वे वहां के होते न घर के होते न गांठ के होते और उसका एकमात्र कारण यही है कि सीढ़ी पकड़ जाती और सीढ़ी पर होना बहुत खतरनाक है क्योंकि सीढ़ी कोई निवास नहीं सीढ़ी कोई मुकाम नहीं इससे तो बेहतर था पहली मंजिल पर ही रहते वहां भी निवास हो सकता था क्षण भंगुर ही सही लेकिन फिर भी निवास था क्षण भंगुर को छोड़ दिया शाश्वत में प्रवेश न हुआ और सिर्फ सीढ़ी को पकड़ के बैठ गए तो जीवन बड़ी ही दुविधा का हो जाता है और तथाकथित धार्मिक आदमियों का जीवन बड़ी दुविधा का हो जाता है उससे तो कभी कभी सांसारिक आदमी भी ज्यादा प्रसन्न और स्वस्थ मालूम पड़ता है कम से कम कहीं उसका घर है निश्चित ही जो परमात्मा के घर में प्रवेश कर जाते हैं उनके आनंद का हिसाब लगाना मुश्किल है संसारिक के पास वैसा कुछ भी नहीं है उसकी खुशी उसका सुख उस आनंद के सामने ऐसे फीके पड़ जाते हैं जैसे सूर्य के सामने छोटा सा दिया फीका पड़ जाए लेकिन जो बीच में अटक जाता है दोनों सीढ़ियों के दोनों मंजिलों के बीच की सीढ़ी को पकड़ के अटक जाता है उसकी दशा सांसारिक से भी बुरी हो जाती इसलिए मैं देखता हूं मेरे पास न मालूम कितने धार्मिक लोग आते हैं उनकी पीड़ा देख के मैं हैरान हो जाता हूं धार्मिक आदमी को पीड़ा तो होनी ही नहीं चाहिए उनकी पीड़ा भी समझने जैसी है उनकी पीड़ा यही होती है कि बुरे लोग दुनिया में मजा कर रहे हैं और भरे लोग दुनिया में बड़ी मुसीबत में भला आदमी कभी मुसीबत में होता नहीं और हो तो जानना चाहिए भला नहीं होगा क्योंकि भले आदमी का अर्थ ही ये होता है कि जिसने मुसीबत मुसीबतों के भी सुखद पहलू को देखना शुरू कर दिया भला आदमी और शिकायत में कोई मेल नहीं है लेकिन अगर भला आदमी भी शिकायत करता है तो उसका कुल कारण इतना है वो वही सब चाहता है जो बुरे आदमी को मिल रहा है लेकिन बुरा करने की हिम्मत भी उसकी नहीं एक चोर ने बड़ा मकान बना लिया है वो भी मकान बनाना चाहता और चोरी भी नहीं करना चाहता तो वो चाहता ही है कि मैंने चोरी नहीं की इससे बड़ा मकान मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने चोरी नहीं की लेकिन मकान मुझे मिलना चाहिए और चोरी न करने का कारण ये नहीं है कि धन पर उसका मोह नहीं है क्योंकि धन पर अगर मोह ना होता तो इस बड़े मकान को देख के ईर्षा भी नहीं जन्मती धन पर उसका मोह पूरा है लेकिन सौ में से निन्यानबे भले आदमी सिर्फ भय के कारण भले होते हैं चोरी की हिम्मत नहीं है चोरी का साहस नहीं है और नपुंसकता से कहीं कहीं कोई दुनिया में भलापन पैदा नहीं होता तो यह आदमी भीतर से चोर की सारी आकांक्षाओं से भरा है सिर्फ इसमें चोर की हिम्मत की कमी है इसलिए जब चोर मकान बना लेता है तब इसे भारी पीड़ा और ईर्षा होती और तब ये कहता है कि भले आदमी बड़ा दुख उठा रहे हैं और बुरे आदमी बड़ा मजा ले रहे हैं ये जो आदमी है ये त्रिशंकु है ये सीढ़ी पर अटका हुआ है ये छलांग भी नहीं लगा पाया परम परम रहस्य में और ये वहां से भी हट गया है जहां से इसका मन अभी हटा नहीं था इससे दूसरी बात भी आपको कह दूं कि सीढ़ी को पकड़ते ही वे हैं जिनसे नीचे की मंजिल वस्तुतः नहीं छूटी होती अगर वस्तुतः नीचे की मंजिल छूट जाए तो जो नीचे की मंजिल छोड़ सकता है वो सीढ़ी पकड़ेगा जो आदमी नीचे की मंजिल छोड़ सकता है वो सीढ़ी को पकड़ने का कारण उसे नहीं रह जाता नीचे की मंजिल छोड़ तो देता है आदमी उस छोड़ने के पीछे भी जैसा मैंने कहा तथाकथित भले आदमी के पीछे भय कारण होता है ऐसे ही तथाकथित त्यागियों के पीछे लोभ कारण होता है वो संसार छोड़ देते हैं किसी लोभ के वश में ये हमें थोड़ा जान के हैरानी होगी कि संसार को त्याग करने वाले सौ में से निन्यानबे लोग लोभ के कारण ही त्याग करते हैं शास्त्रों में पढ़ लेते हैं गुरुओं से सुन लेते हैं और उनके लोभ की घनी मात्रा जग जाती और उन्हें लगता है कि संसार में क्या रखा है इसको छोड़ दो तो जहां जहां मिल सकता हो असली सुख उसको ही पाने के लिए इसको छोड़ दो इस संसार का छोड़ना उनके लिए एक सौदा है तो मन से तो नहीं छूट पाता है सीढ़ी पर तो पहुंच जाते हैं फिर सीढ़ी को नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि भय लगने लगता है भय ये लगने लगता है कि कहीं सीढ़ी भी छूट गई संसार भी छूट गया कहीं सीढ़ी भी छूट गई और वो जो परम रहस्य है वो मिला न मिला और ध्यान रहे वो परम रहस्य जब तक मिल न जाए तब तक उसके संबंध में कुछ भी पता नहीं होता कि वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं होता ये भी पक्का नहीं होता उसका मिल जाना सुनिश्चित है ये मिलकर ही पता चलता है इसीलिए तो श्रद्धा पर इतना जोर है श्रद्धा का मतलब यही है कि जो अनिश्चय में कूदने को तैयार है इनसिक्योरिटी में असुरक्षा में कूदने को तैयार है जो कहते हैं ठीक है मिलेगा नहीं मिलेगा ये कूद कर ही देख लेंगे अभी से ये भी पक्का वचन लेकर नहीं चलते हैं कि मिलेगा तो ही कूदेंगे जिस आदमी ने ऐसा कहा कि मिलेगा तो ही कूदेंगे वो कभी कूदेगा ही नहीं क्योंकि मिलने का कोई पता मिलने के पहले कैसे चल सकता है आज ही मुझे एक पत्र मिला है एक मित्र का उन्होंने मुझे लिखा है शांति नहीं आनंद नहीं जीवन में कोई अर्थ नहीं है कहीं कोई परमात्मा है ऐसी श्रद्धा भी नहीं आती कहीं कोई शांति हो सकती है कहीं कोई आनंद हो सकता है ऐसी आस्था भी नहीं बनती फिर भी आपसे चाहता हूं कि मुझे मार्ग दिखाएं इस तरह के बहुत व्यक्तियों से मैं परिचित हूं क्योंकि इनको अगर मार्ग भी दिखाया जाए तो उस पर भी आस्था नहीं आती उस पर भी श्रद्धा नहीं आती उसमें भी कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि सवाल मार्ग का नहीं है मार्ग तो बहुत है और साफ है लेकिन सवाल तो उस आंख का है उस भरोसे का है क्योंकि मार्ग दिखाई पड़ता है मंजिल तो कभी दिखाई नहीं पड़ती मंजिल तो उसे दिखाई पड़ेगी जो मार्ग पर चलेगा इन सबको इन सब की आकांक्षा यह है कि मार्ग पर चलने के पहले मंजिल दिखाई पड़ जाए भरोसा आ जाए कि है ये असंभव है और इसी असंभावना के कारण श्रद्धा का इतना मूल्य है श्रद्धा का अर्थ है कि रास्त, रास्ता दिखाई पड़ता है मंजिल दिखाई नहीं पड़ती लेकिन मैं चलता हूं मैं चलता हूं और ध्यान रहे चलने से ही मंजिल निर्मित होती है और दिखाई पड़ती अगर श्रद्धा सघन हो तो शायद चलने की भी जरूरत नहीं श्रद्धा सघन हो तो मंजिल सामने ही प्रकट हो जाती श्रद्धा की सघनता पर निर्भर है श्रद्धा विरल हो तो रास्ता बहुत लंबा हो श्रद्धा बिल्कुल ना हो तो रास्ता अंतहीन हो जाता है अश्रद्धा हो रास्ता सर्कुलर हो जाता है गोल घूमने लगता है फिर उस पर घूमते रहो घूमते रहो और कहीं भी पहुंचाता हुआ मालूम नहीं पड़ता श्रद्धा से मंजिल क्यों सामने आ जाती होगी इसे थोड़ा समझ लेना उचित है तो ही सीढ़ी छूट सकती है और तब ये सूत्र आसान हो जाएगा नहीं तो कठिन पड़ेगा असल में मंजिल अगर बाहर होती तो चल के मिल जाती यहां एक ख्याल ले लें कोई आदमी माउंट आबू रोड से माउंट आबू की तरफ चले उसे श्रद्धा बिल्कुल ना हो तो भी माउंट आबू पहुंच जाएगा श्रद्धा बिल्कुल ना हो बल्कि विधायक रूप से अश्रद्धा हो वो ये भी कहे कि मैं किसी माउंट आबू को नहीं मानता फिर भी अगर वो रास्ते पे चले तो माउंट आबू पहुंच जाएगा क्योंकि माउंट आबू का होना आपकी श्रद्धा या अश्रद्धा पर निर्भर नहीं माउंट आबू एक ऑब्जेक्टिव वस्तुगत घटना है जो नहीं मानता है वो भी रास्ते पे चलेगा तो पहुंच जाएगा जो मानता है वो भी पहुंच जाएगा जो अपने आप चल के ना आया हो जबरदस्ती पकड़ के लाया हो वो भी पहुंच जाएगा जो होश में ना आया हो बेहोशी में उठा के लाया गया हो वो भी पहुंच जाएगा क्योंकि माउंट आबू पहुंचने वाले पर निर्भर नहीं है लेकिन जिस यात्रा की हम चर्चा कर रहे हैं वो सारी की सारी मंजिल पहुंचने वाले पर निर्भर है वो बाहर अगर मंजिल होती तो श्रद्धा की कोई जरूरत ना थी वो मंजिल भीतर है अगर हम ठीक से समझें तो ऐसा है कि जिस दिन हम मंजिल पर पहुंचेंगे तो हम स्वयं पर ही पहुंचेंगे और कहीं पहुंचने वाले नहीं और अगर श्रद्धा ना हो तो इसका अर्थ है कि हमें स्वयं पर ही भरोसा नहीं तो हम बाहर के कितने ही रास्तों पर चलते रहे मंजिल ना आएगी क्योंकि मंजिल आंतरिक घटना है और मंजिल हमारे भाव से निर्मित होती है जितना सघन होता है भाव उतनी निर्मित होती उतनी निखरती उतनी प्रकट होती वो जो प्रकट होना है उसे हम ऐसा समझें कि कली है कली अभी फूल नहीं है लेकिन फूल हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि फूल हो ही कली ही रह जा सकती ये भी हो सकता है कि फूल हो जाए ये भी हो सकता है कली रह के ही गिर जाए किस बात पर निर्भर करेगा कली का फूल होना कली का फूल होना उस कली के बह, नीचे अंतस में बहती हुई रस धार पर निर्भर करेगा कितने बलपूर्वक उस पौधे में रस की धार बह रही है इस पर निर्भर करेगा वो रसधार अगर बल से बह रही है तो कली खिल जाएगी और फूल बन जाएगी और अगर वो रसधार छीन है मुर्दा है गतिमान नहीं है तो कली कली रह जाएगी और फूल नहीं बन पाएगी कली के भीतर फूल छिपा है संभावना की तरह वास्तविकता की तरह नहीं संभावना की तरह एक स्वप्न है अभी तो लेकिन साकार हो सकता है लेकिन कली की अपनी रसधार पर निर्भर करेगा परमात्मा एक स्वप्न है मनुष्य की आत्मा में छिपा अगर मनुष्य की आत्मा को हम कली समझें तो परमात्मा फूल है लेकिन आदमी के अपनी जीवंत रसधार पर ही निर्भर करेगा उसी रसधार का नाम श्रद्धा है कितने बलपूर्वक कितने आग्रह पूर्वक कितनी शक्ति से कितनी त्वरा से अभिप्सा है भीतर कितने जोर से पुकारा है हमने जीवन को कितने जोर से खींची है हमने जीवन की प्राणवत्ता अपनी तरफ कितने जोर से हम संलग्न हुए कितने जोर से हम समर्पित हुए हैं कितना एकाग्र भाव से हमने चेष्टा की है इस सब पर निर्भर करेगा कि कली फूल बने कि न बने तो जो आदमी कहता है कि श्रद्धा तो नहीं है रास्ता बता दे वो ऐसी कली है जो कह रही है रसधार तो नहीं है लेकिन रास्ता बताएं कि मैं फूल कैसे हो जाऊं रास्ता बताया जा सकता है लेकिन व्यर्थ होगा क्योंकि रास्ते का सवाल उतना नहीं है जितना चलने वाले की आंतरिक शक्ति का है श्रद्धा का अर्थ इतना ही है कि मैंने इकट्ठी की अपने प्राणों की सारी शक्ति दांव पर लगा दी दांव कठिन है क्योंकि कली को फूल का कुछ भी पता नहीं कली ये भी सोच सकती है कि ये दांव कहीं चूक ना जाए कहीं ऐसा ना हो कि फूल भी ना बन पाऊं और पास की संपदा थी जो रसधार थी वो भी चुक जाए ये डर है ये भय है ये भय है कली को सोचना पड़ेगा कि मैं दांव लगाऊं कहीं ऐसा ना हो कि जिस रसधार से मैं महीनों तक कली रह सकती थी वो रसधार भी चुग जाए दांव में फूल भी ना बन पाए और मेरी जिंदगी भी नष्ट हो जाए यही भय आदमी को धार्मिक नहीं होने देता डर लगा ही रहता है कि जो है कहीं वो ना छूट जाए और जो नहीं है वो मिले न मिले क्या पता है अज्ञात में छलांग लगाने की हिम्मत ही श्रद्धा है कल ही छलांग लगा लेती फूल बन जाती और फूल बन के मिटने का मजा ही और है और कली रह के गिर जाना बड़ा दुखदायी फूल बन के मिटने का मजा ही और है क्योंकि पूरा फूल अगर खिल गया हो तो मिटना एक सुख है मिटना एक आनंद है क्योंकि पूरा फूल बन जाने के बाद विश्राम स्वाभाविक है लेकिन कली अगर गिर के नष्ट हो जाए तो बड़ा पीड़ादायी है क्योंकि अभी कुछ पूर्णता भी ना हुई थी अभी जो प्रकट होना था वो प्रकट भी ना हुआ था अभी जो गीत उस कली को गाना था वो गाया नहीं गया अभी जो नृत्य उस कली को करना था वो हो नहीं पाया अभी चांदारों से बातें करनी थी और हवाओं के साथ खेलना था और अभी जीवन का जो सब कुछ छिपा था वो सब छिपा ही रह गया भारतीय पुनर्जन्म की कल्पना में ये कली का ही पुनरावर्तन है जो अधूरा मरेगा वो बार बार पैदा होगा अधूरा मरने का मतलब है कि वो जो आकांक्षा रह गई पूरे होने की वो पुनः जन्म लेगी जब तक कि फूल ना बन जाए कली तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा आवागमन से मुक्ति का एक ही अर्थ है वो अर्थ वैसा नहीं है जैसा कि मंदिरों में बैठे हुए लोग सोचते रहते हैं कि हे परमात्मा आवागमन से छुटकारा दिलाओ ये परमात्मा के हाथ का काम नहीं है कली की प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती क्योंकि कली ने अभी पात्रता ही पैदा नहीं की कि वो प्रार्थना कर सके ये तो फूल की प्रार्थना है कि अब मैं पूरा हुआ अब मैं मिटना चाहता हूं मिटना चाहना आखिरी आकांक्षा है और पूर्णता पर परिपक्वता पर उपलब्ध होती है कोई बुद्ध कह सकता है कि ठीक अब बात समाप्त हुई अब मैं समाप्त होना चाहता हूं हमारा मन तो कहता है किसी तरह बचे रहें किसी तरह बचे रहे मिट ना जाए ये कली का डर है ये फूल की गरिमा है कि फूल कहे कि ठीक अब मैं मिटना चाहता हूं ये मिटना चाहने का मतलब यह है कि जीवन का सारा अर्थ पूरा हुआ अभिप्राय निष्पन्न हुआ जिसके लिए जीवन था वो घटना घट गट गई जान लिया जी लिया हो लिया अब अब मिटना एक विश्राम है अब उस परम में लीन हो जाना एक गहन विराम आनंदपूर्ण लेकिन कली का तो पुनर्जन्म होगा क्योंकि कली अधूरी है अधूरी है अधूरी है यही भाव आपने अनेक लोगों को मरते हुए देखा होगा कभी कोई एक आध आदमी मरते देखा है जिसके मरते वक्त श्वास श्वास न कह रही हो अधूरा हूं अधूरा हूं कुछ भी पूरा नहीं हुआ कुछ भी पूरा नहीं हर आदमी यही कहता हुआ मरता हुआ दिखाई पड़ेगा कुछ भी पूरा नहीं हुआ सब अधूरा है और अभी मुझे उठाए ले रहे तो सारे प्राण वापस लौटने के लिए आतुर पूर्ण हुए बिना आवागमन से कोई छुटकारा नहीं ये जो पूर्ण होना है ये कली की छलांग लगाने के साहस पर निर्भर है दुस्साहस कहना चाहिए क्योंकि कली को फूल होने का कोई भी पता नहीं लेकिन सिर्फ एक गहरे में आकांक्षा पूरे होने की जरूर है इस भाव को अगर साधक संभाल पाए और तैयार हो जाए कूदने को मतलब यह हुआ कि तैयारी है उसकी कि जो मैं हूं मिट जाऊं लेकिन जो मुझे होना चाहिए वो होने के लिए मैं सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार तो वो इसी क्षण भी पूर्ण हो सकता है कली इसी क्षण भी खिल सकती खिलने में कितनी देर लगेगी ये उसका उसकी रसधार पर ही निर्भर करेगा रसधार अगर अभी पूर्ण शक्ति से बह जाए तो पखरिया अभी खिल जाएंगी इसी क्षण पखरिया फिर ये ना कहेंगी कि अभी तो जल्दी थी कभी भी जल्दी नहीं है काफी देर पहले ही हो चुकी है बहुत बहुत बार कली होकर हम गिर चुके और मिट चुके हैं तो देर तो पहले ही काफी हो चुकी है जल्दी बिल्कुल नहीं है कभी भी हो जाए तो ये काफी काफी समय के बाद हुई घटना है लेकिन ये रसधार उपलब्ध होनी चाहिए श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन के खिलने में रसधार है इस श्रद्धा के कि आत्यंतिक छलांग में सीढ़ी पकड़ जाएगी अगर श्रद्धा की कमी हो तो किसी तरह हम संसार छोड़ देंगे फिर सीढ़ी पर डरते हुए खड़े हो जाएंगे फिर सीढ़ी के पार तो अज्ञात है उसमें उतरने में भय लगेगा सीढ़ी ज्ञात मालूम पड़ेगी सीढ़ी बनाई जाती है इसलिए कि एक ज्ञात और अज्ञात के बीच में एक मध्य बिंदु बन जाए जिससे यात्रा सुगम हो जाए लेकिन वही मध्य बिंदु जकड़न भी बन सकता है यह हम पर निर्भर करेगा कि हम उसका क्या उपयोग करते हैं वो जंपिंग बोर्ड भी हो सकता है हम पर निर्भर करेगा और हम वही अपना बिस्तर बोरिया रख के निवास भी बना सकते हैं वो हम पर निर्भर करेगा ये जो सूत्र है बीच के एक जंपिंग बोर्ड के लिए एक छलांग लगाने के लिए स्थल मात्र का है सूत्र में कहा है प्रतीक शब्द हैं जिसने इस उपनिषद को लिखा है वो शिव का भक्त है शिव उसके लिए अनंत के प्रतीक है ऐसे भी शिव बहुत अद्भुत प्रतीक है मनुष्य ने बहुत प्रतीक खोजे हैं लेकिन शिव जैसा अनूठा प्रतीक बहुत मुश्किल है सारे जगत में है परमात्मा के लिए जितने शब्द हमने खोजे हैं उनमें शिव का कोई भी मुकाबला नहीं उसके कारण शिव का अर्थ ही है शुभ अच्छा लेकिन शिव के व्यक्तित्व में जिसे हम बुरा कहें वो सब भी मौजूद है जिसे हम बुरा कहें वो सब मौजूद है शिव का अर्थ ही है शुभ लेकिन शिव को हमने विध्वंस का देवता माना है विनाश का उसी से अंत होगा जगत का हैरानी की बात मालूम पड़ती है कि जो शुभ है शिव है वो विध्वंस का देवता होगा लेकिन बड़ी कीमती बात है हम कभी ये मान ही ना पाए कि इस जगत का अंत अशुभ से हो इस जगत का अंत उस पूर्णता में हो जहां शुभ का सारा फूल खिल जाए अंत जो हो वो अंत ही ना हो वो पूर्णता भी हो अंत जो हो वो सिर्फ मृत्यु ही ना हो बल्कि महाजीवन का अंतिम शिखर भी हो और हमारी शुभ की जो धारणा है वो भी बड़ी अद्भुत है दुनिया में जहां भी शुभ की धारणा की गई है वो अशुभ के विपरीत है इसलिए भारत को छोड़कर सारे जगत में सभी धर्मों ने जो भारत के बाहर पैदा हुए दो ईश्वर मानने की मजबूरी प्रकट की है दो ईश्वर से मेरा मतलब है एक को वे ईश्वर कहते हैं एक को शैतान कहते हैं बुराई का भी एक ईश्वर है उसको अलग करना पड़ा है भलाई का एक ईश्वर है उसको अलग करना पड़ा है और जब मैं कहता हूं कि दो ईश्वर तो कई कारणों से कहता हूं अंग्रेजी में शब्द है डेविल वो संस्कृत के देव शब्द से ही बना है वो भी देवता है बुराई का देवता है बुराई का देवता अलग निर्मित करना पड़ा है क्योंकि भारत के बाहर कोई भी मनीषा इतनी हिम्मत की नहीं हो सकी कि बुराई और भलाई को एक ही व्यक्तित्व में निहित कर दे ये बड़ा साहस का काम सोच ही नहीं हम पाते हम भी नहीं सोच पाते जब हम कहते हैं फला आदमी महात्मा है तो फिर हम सोच ही नहीं पाते कि उससे कुछ भी जैसे क्रोध महात्मा कर सके ये हम सोच ही नहीं पा सकते लेकिन शिव क्रोध कर सकते और साधारण क्रोध नहीं कि भस्म कर दे और हिंदू मन कहता है कि शिव से दयालु कोई भी नहीं बहुत भोले हैं जरा ही कोई मना ले तो किसी भी बात के लिए राजी हो जाते ऐसा वरदान भी आदमी मांग सकता है कि खुद ही झंझट में पड़े तो यह आदमी अनूठा मालूम होता है ये प्रतीक अनूठा मालूम होता है बुराई और भलाई को हमने कभी भी दो विपरीत चीजें नहीं माना क्योंकि विपरीत मानकर ही जगत दो खंड में बढ़ जाता है और द्वैत शुरू हो जाता है और फिर अगर विपरीत है भलाई और बुराई तो फिर भलाई की जीत सुनिश्चित नहीं है बुराई भी जीत सकती है अगर बुराई और भलाई के बीच संघर्ष है तो फिर भलाई की जीत सुनिश्चित नहीं है फिर कौन तय करेगा कि अंत में ईश्वर ही जीतेगा और शैतान नहीं जीत जाएगा जहां तक रोज का सवाल है शैतान जीतता हुआ दिखाई पड़ता है रोज तो शैतान जीतता हुआ दिखाई पड़ता है क्या पक्का है कि अंततः भी शैतान नहीं जीतेगा अगर दो शक्तियां हैं इस जगत में तो आज तक का अनंत इतिहास जो है आदमी का उसमें कोई भी ऐसा क्षण नहीं मालूम पड़ता जब बुराई न रही हो बुराई और भलाई सदा ही संघर्षरत रही है तो अनंत इतिहास कहता है कि वो दोनों सदा लड़ती रही है या तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो समान शक्तिशाली है इसलिए कोई अंतिम जीत तय नहीं हो पाती कभी कोई जीतता लगता है कभी कोई जीतता लगता है फिर भी अगर गौर से हम देखें तो निन्यानबे मौके पर बुराई जीतती लगती एक मौके पर भलाई जीतती लगती है तो ऐसा डर लगता है कि कहीं बुराई ज्यादा मजबूत तो नहीं जैसे हम बुराई और भलाई को बांट दें खतरा शुरू हो जाता है और इसमें फिर कोई अंत नहीं हो सकता कोई अंत नहीं हो सकता कि कौन जीतेगा और अगर ये निश्चित ही ना हो कि अंततः शुभ जीतना है तो शुभ की सारी चेष्टा व्यर्थ हो जाती लेकिन भारत और ढंग से सोचता है भारत बुराई को भलाई के विपरीत नहीं मानता है भारत बुराई को भलाई में आत्मसात कर लेता है इसे हम ऐसा समझें भारत क्रोध को अनिवार्य रूप से बुरा नहीं कहता भारत कहता है कि क्रोध अगर शुभ के लिए हो तो शुभ हो जाता है क्रोध अगर शुभ के लिए हो तो शुभ हो जाता है भारत कहता है कि शक्तियां सब तथस्थ हैं विज्ञान अभी इस बात को अनुभव करता है कि शक्तियां सब तथस्थ हैं शक्ति ना शुभ होती ना बुरी होती भारत कहता है क्रोध भी शक्ति है एक ऊर्जा है एक एनर्जी है तो क्रोध भी शुभ हो सकता है अगर शुभ की सेवा में हो अशुभ हो सकता है अगर अशुभ की सेवा में हो लेकिन क्रोध अपने आप में ना शुभ है और ना अशुभ है मेरे हाथ में एक तलवार है वो ना शुभ है और ना अशुभ है मैं किसी की गर्दन काट के लूट भी सकता हूं और किसी लुटते की कट गर्दन कटते आदमी की रक्षा भी कर सकता हूं तलवार अपने में तथस्थ है भारत मानता है सभी शक्तियां तथस्थ हैं किस लिए उनका उपयोग होता है इस पर सब कुछ निर्भर करेगा हम अशुभ को एक अलग देवता नहीं बनाते केवल शक्तियों का एक दुरुपयोग बनाते शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और सदुपयोग अंत में जीतेगा क्योंकि दुरुपयोग करने वाले को ही दुख लाता है इसलिए अंततः दुरुपयोग जीत नहीं सकता क्योंकि जिस चीज से मुझे ही दुख मिलता जाता हो मैं कब तक उसे कर सकता हूं कितना ही करता रहूं अंततः मैं उससे छूट ही जाऊंगा क्योंकि दुख के साथ संबंध तय रखना असंभव है जिस दिन मुझे पता चलेगा कि ये दुख मैं ही निर्मित कर रहा हूं उसी दिन मैं सदुपयोग में बदल दूंगा अपनी शक्ति को अशुभ शुभ के विपरीत कोई शक्ति नहीं है अशुभ और शुभ एक ही शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग और वो शक्ति परमात्मा की है तो शिव के व्यक्तित्व में हमने समस्त शक्तियों को स्थापित किया है अमृत है उनका जीवन चुंझे हैं वे लेकिन जहर उनके कंठ में इसलिए नीलकंठ हम उनको कहते हैं उनके कंठ में जहर भरा हुआ है जहर पी गए मृत्युंजय हैं अमृत उनकी अवस्था है मरवे सकते नहीं है शाश्वत है और जहर पी गए शाश्वत जो है वही जहर पी सकता है जो मरण धर्मा है वो जहर कैसे पिएगा और ये जहर तो सिर्फ प्रतीक है शिव के व्यक्तित्व में जिस जिस चीज को हम जहरीली कहें वो सब उनके कंठ में है कोई शिव से विवाह करने को राजी नहीं था कोई पिता राजी नहीं होता था उमा का पिता भी बहुत परेशान हुआ था पागल थी लड़की ऐसे वर को खोज लाई जो बेबूझ था जिसके बाबत तय करना मुश्किल था कि वो क्या है परिभाषा होनी कठिन थी क्योंकि वो दोनों ही था बुरे से बुरा उसके भीतर था भला से भला उसके भीतर था और जब बुरा भीतर होता है तो हमारी आंखें बुरे को देखती हैं भले को नहीं देख पाती क्योंकि बुरे को हम खोजते रहते बुरे को हम खोजते रहते कहीं भी बुरा दिखाई पड़े तो हम तत्काल देखते हैं भले को तो हम बमुश्किल देखते हैं भला बहुत ही हम पर हमला करे माने ही ना किए ही चला जाए तब कहीं मजबूरी हम कहते हैं कि होगा शायद हो लेकिन बुरे की हमारी तलाश होती है तो अगर लड़की के पिता को शो में बुरा ही बुरा दिखाई पड़ा हो तो कोई हैरानी की बात नहीं है उठा लेकिन भीतर जो श्रेष्ठतम शुद्धतम शुभत्व है वो भी था और दोनों साथ थे और दोनों इतने संतुलित थे कि वो जो व्यक्ति था दोनों के पार हो गया था इसे थोड़ा ठीक से समझ ले जब बुराई और भलाई पूर्ण संतुलन में होती है तो संत पैदा होता है संत भले आदमी का नाम नहीं है भले आदमी का नाम सज्जन है बुरे आदमी का नाम दुर्जन है भलाई और बुराई को दोनों जो इस ढंग से आत्मसात कर ले कि वे दोनों संतुलित हो जाएं और एक दूसरे को काट दें बराबर मात्रा में हो जाए और एक दूसरे को काट दे तो दोनों के पार जो व्यक्तित्व पैदा होता है वो संत है संत एक गहन संतुलन है इसलिए आप ये मत समझना संत में बुराई नहीं होती संत में बुराई और भलाई सम मात्रा में होती है वो इतनी सम होती है कि दोनों एक दूसरे से कट जाती ऋण और धन बराबर हो गए होते और संत उनके पार हो गया होता लेकिन संत उनमें से किसी का भी उपयोग कभी भी कर सकता है ये शिव जो है संतत्व की आखिरी धारणा है इस उपनिषद का ऋषि शिव का भक्त उसने शिव को प्रतीक माना है ध्यान का उसने कहा कि जिसे उमा का सहायक जिसे उमा का प्रेमी जिसे उमा का रक्षक परमेश्वर कहा है जिसे हमने नीलकंठ कहा है जिसे हमने त्रिलोचन कहा है इन सब नामों से जिसे हमने पुकारा है इसमें तीन नाम उपयोग किए हैं एक तो उमा का सहायक या उमा का प्रेमी या उमा का पति या उमा का आधार ये भी थोड़ा सोच लेने जैसा जैसे मैंने कहा कि शुभ और अशुभ वैसे ही शिव अकेले व्यक्ति हैं जिनमें स्त्री और पुरुष सम हो गए इसलिए हमने अर्ध नारीश्वर की मूर्ति बनाई वो बेजोड़ है सारे जगत में कहीं भी ऐसी कोई मूर्ति नहीं है किसी परमात्मा की कल्पना की जहां स्त्री और पुरुष को हमने आधा आधा अंग रखा हो दुनिया के अधिकतम ईश्वर पुरुष हैं कुछ आदिम जातियों के ईश्वर स्त्री हैं काली माता है या और लेकिन आमतौर से अधिक ईश्वर पुरुष है ये दोनों ही बातें अधूरी है क्योंकि अगर ईश्वर पुरुष है तो स्त्री का व्यक्तित्व फिर कभी भी पुरुष के समान नहीं हो सकता वो हमेशा नंबर दो का व्यक्तित्व होगा इसलिए ईसाइत ईश्वर को पुरुष मानती है तो स्त्री को सिर्फ आदमी की एक हड्डी से पसली से बना हुआ मानती एक सेकेंडरी घटना है एक द्वितीय कोटि की घटना है जरूरत पड़ी आदम को अकेले में उसका मन नहीं लगता था तो एक खिलौने की तरह स्त्री उसकी एक हड्डी से निकाल के बना दी गई पर इससे ज्यादा उसका कोई मूल्य नहीं है ईसाइत के पास ईश्वर की स्त्रीण स्त्रीण तत्व को भी ईश्वर में प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं कोई उपाय नहीं ईश्वर के तीन रूप ईसाइत अपने माने हैं God the father God the son and the holy ghost ईश्वर पिता ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा लेकिन तीनों में से कोई भी स्त्री नहीं सभी पुरुष फिर ईश्वर को मां मानने वाले आदिम समाज भी है लेकिन उनके पास पुरुष की कोई धारणा नहीं जिन समाजों में स्त्री की सत्ता थी उन्होंने ईश्वर को स्त्रीण बना लिया और जिन समाजों में पुरुष की सत्ता थी उन्होंने ईश्वर को पुरुष बना लिया ये सामाजिक दुर्घटनाएं हैं इनसे ईश्वर का कोई संबंध नहीं लेकिन शिव अकेला ही एक प्रतीक है जिसमें हमने स्त्री और पुरुष को बराबर मात्रा दी आधा अंग पुरुष का आधा अंग स्त्री का और मजे की बात है कि अगर आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का हो तो फिर दोनों का संतुलन काट देता है और व्यक्तित्व दोनों के पार हो जाता है ये वैज्ञानिक गणित है कि जहां भी दो विरोधी चीजें सम हो जाती हैं तो व्यक्तित्व तत्काल तीसरा हो जाता है वो पार हो जाता है दोनों के वो फिर वही नहीं रह जाता तो पहली तो बात कही है कि उमा सहा है ये बहुत मजेदार बात है उमा के सहायक या उमा के प्रेमी या उमा के मित्र या उमा के पति लेकिन दोनों को बराबर दोनों को बराबर रखने की दृष्टि है और दोनों बराबर हों तो ही हम लैंगिक भेद से ईश्वर को पार ले जाते नीलकंठ तो मैंने कहा कि जहर पी गए हैं और जहर पी ही वही सकता है जिसे अमृत का आश्वासन इतना गहन हो कि जहर कुछ कर सकेगा ये प्रश्न और संदेह ही ना उठे मरने को सहज वही तैयार हो सकता है जिसे पता ही हो कि मरना होता ही नहीं आज एक मित्र संन्यास लेने आए थे विचारशील हैं पढ़े लिखे तो उन्होंने कहा कि इसीलिए सन्यास नहीं ले रहा हूं कि अगर संन्यास लू और और आपको स्वीकार कर लू तो फिर मेरा व्यक्तित्व खो जाएगा तो मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हें व्यक्तित्व में इतना शक है अपने तो वो होगा ही नहीं इतना शक है कि सन्यास लेने से व्यक्तित्व खो जाएगा तो वो होगा ही अगर तुम में व्यक्तित्व हो तब तो तुम निर्भय होकर सन्यास ले सकते हो सच तो यही है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के चरणों में जाता है तो वही जा सकता है चरणों में जिससे इतना भरोसा हो कि चरणों में छोड़कर भी कुछ भी तो खोएगा नहीं ये अपने भरोसे से व्यक्तित्व का इतना भरोसा हो तो समर्पण भी हो सकता है शिव जहर पी गए हैं क्योंकि अमृत का ऐसा सघन भरोसा है वो जहर कंठ में ही अटक के रह गया है इसके बड़े प्रतीकात्मक अर्थ हैं इसे थोड़ा ख्याल में लेना चाहिए वो जहर कंठ में ही अटक के रह गया है कंठ हमारे व्यक्तित्व की पहली परिधि है समझे कि कंठ हमारे व्यक्तित्व का द्वार है उसके बाद ही हमारे व्यक्तित्व का महल है वो द्वार से भीतर नहीं जा सका है जहर लेकिन अगर हम जहर पी लें तो हम फौरन मर जाएंगे मर जाने का कारण यह है कि कंठ के पार हमारा कोई व्यक्तित्व ही नहीं कंठ ही हमारा व्यक्तित्व हम अगर ठीक से समझें तो हम जो बोलते हैं सोचते हैं कहते हैं चलते हैं उठते हैं बैठते हैं मानते हैं वो सब हमारे कंठ तक है कंठ से नीचे कुछ भी नहीं है एक आदमी कह रहा है मैं आस्तिक हूं ये कंठ से नीचे की आवाज नहीं है एक आदमी कह रहा है मैं भगवान को मानता हूं ये कंठ से नीचे की आवाज नहीं ये कंठ के बिल्कुल ऊपर है कंठ को काट के कर दो अलग नीचे इस आवाज का कोई पता नहीं चले ये सिर्फ कंठ से उठ रहा है हमारा व्यक्तित्व कंठ केंद्रित है आदमी ने कंठ का बहुत विकास किया वाणी का भाषा का विचार का सारा विकास कंठ पर निर्भर है और इसलिए आदमी की जिंदगी कंठ के बाहर ही और कंठ के ऊपर ही चलती उसके नीचे का सब लोग अंधकार हो गया कंठ के नीचे के सब केंद्र अंधेरे में छुप गए शिव ने जहर पिया तो कंठ पर रुक गया क्योंकि कंठ तक जो भी है वो मरण धर्मा है इसे ठीक से समझ ले कंठ तक जो भी है वो मरण धर्मा है शब्द और भाषा और वाणी और इस सब का कोई मूल्य नहीं है ये सब मृत्यु की सीमा के भीतर है यहां तक तो जहर काम कर जाएगा अगर कंठ के पार भी आपके पास कुछ हो तो ही आप अमृत धर्म हो सकते हैं शिव का जहर रुक गया कंठ में क्योंकि वहां तक तो मृत्यु का वास है वहां तक जा सकता है जहर उसके पार अमृत है उसके पार जहर नहीं जा सकता शिव का कंठ नीला पड़ गया है जहर के कारण इसका एक और अर्थ भी है वो भी हम ख्याल में ले लें शिव के कंठ में जहर जाने के बाद शिव के कंठ के नीले पड़ जाने के बाद वे परम मौनी हो गए वे बोलते ही नहीं वे चुप ही हो गए उनकी चुप्पी बहुत अद्भुत है और कई आयामों में फैली हुई है पार्वती की मृत्यु हो गई शिव मान ना पाए कि पार्वती भी मर सकती है न मानने का कारण था जिस पार्वती को वे जानते थे उसके मरने का कोई सवाल नहीं था लेकिन जिस देह में वो पार्वती थी वो देह तो मर ही गई बड़ी मीठी कथा है ऐसी मीठी कथा दुनिया के इतिहास में दूसरी नहीं शिव पार्वती की लाश को कंधे पर रख के पागल की तरह पृथ्वी पर घूमते लाश को कंधे पर रख के घूमते ये जितने तीर्थ हैं भारत में कथा यह है कि जहां जहां पार्वती का एक एक अंग गिर गया वहां वहां एक एक तीर्थ बन गया उस लाश के टुकड़े गिरते जाते हैं वो लाश सड़ती जाती है और जगह जगह जहां जहां एक एक अंग गिरता जाता है वहां वहां एक एक तीर्थ निर्मित होता जाता है और शिव घूमते हैं बोलते नहीं कुछ कहते नहीं कुछ सिर्फ रोते हैं उनकी आंख से आंसू टपकते जाते कंठ तो अवरुद्ध है बोलने का कोई उपाय नहीं रहा अब हृदय ही बोल सकता है तो सिर्फ उनकी आंख से आंसू टपकते हैं और कंधे पर लाश लिए वो घूम रहे हैं जगह जगह खबर हो गई कि शिव पागल हो गए ये भी कोई बात है ईश्वर ऐसा करे कि अपने अपने प्रिय की लाश को लेकर ऐसा घूमे तो बड़ी कठिनाई होगी हमें क्योंकि ईश्वर से हमारा अर्थ ही होता है जो बिल्कुल वितराग है जिसमें कोई राग ही नहीं उसे क्या प्रयोजन प्रेसी उसकी मर जाए तो मर जाए ना मरे तो ना मरे जिए तो ठीक ना जिए तो ठीक उसे क्या प्रयोजन ये शिव का लेके घूमना विचित्र मालूम पड़ता है लेकिन शिव को समझना हो तो हमें कुछ और तरह से सोचना पड़े शिव और और पार्वती के बीच इतना भी भेद नहीं है कि पार्वती को दूसरा कहा जा सके तो विराग भी क्या हो और वितराग भी क्या हो राग का भी कोई सवाल नहीं है ये पार्वती और शिव के बीच ऐसा तादात्म है ऐसी एकता है ये शिव स्त्री और पुरुष का ऐसा जोड़ है कि हमको लगता है कि पार्वती का शरीर लेके घूम रहे हैं उनका घूमना करीब करीब वैसा ही है जैसे मेरा एक हाथ बीमार हो जाए गल जाए और इसको लेके मैं घूमू क्या करूंगा और इसमें कोई फासला ही नहीं है इसमें कोई फासला ही नहीं और इसीलिए तो ये कथा मीठी है कि पार्वती के अंग जहां जहां गिरे इस शिव के प्रेम और शिव की आत्मीयता की इतनी गहन छाया उनमें है तो उसके सड़े हुए अंगों के स्थानों पर धर्म तीर्थ निर्मित हुए धर्म तीर्थ निर्मित होने का अर्थ ही केवल इतना है इन्हें हमें प्रेम तीर्थ कहना चाहिए इतने गहन प्रेम में और ईश्वर की स्थिति का व्यक्ति बड़े दूर के छोर है क्योंकि ईश्वर से हमारा मतलब ये होता है कि जो सब राग इत्यादि से बिल्कुल दूर खड़े होकर बैठा है इसलिए जैन है या और कोई जो वैराग्य को बहुत मूल्य देते हैं वो सोच ही नहीं सकते कि शिव को और ईश्वरत्व की धारणा मानना कैसे ठीक है वो ये भी नहीं सोच पाते कि राम को कैसे ईश्वर माना जाए जब सीता उनके बगल में खड़ी क्योंकि ये, ये सीता का बगल में खड़ा होना सब गड़बड़ कर देता है ये फिर जैन की समझ के बाहर हो जाएगा उसका कारण है क्योंकि उसने जो प्रतीक चुना है ईश्वर के लिए वो परम वैराग्य का है लेकिन वो अधूरा है क्योंकि तब संसार और ईश्वर विपरीत हो जाते हैं संसार हो जाता है राग और ईश्वर हो जाता है वैराग्य शिव राग और वैराग्य दोनों का संयुक्त जोड़ है और तब एक अर्थों में जीवन के समस्त द्वैत को संग्रहित कर लेते तीसरे शब्द का प्रयोग किया है त्रिलोचन तीन आंख वाले दो आंखें हम सबको हैं तीसरी भी हम सबको है उसका हमें कुछ पता नहीं और जब तक तीसरी भी हमारी सक्रिय ना हो जाए और तीसरा आंख भी हमारी देखने ना लगे तब तक हम तब तक हम परमात्मा सत्ता का कोई भी अनुभव नहीं कर सकते इसलिए उस तीसरे आंख का एक नाम शिव नेत्र भी है ये भी थोड़ा समझ लें क्योंकि सब द्वैत के भीतर ही तीसरे को खोजने की तलाश है आपकी दो आंखें द्वैत की सूचक हैं इन दोनों के आंखों के बीच में ठीक संतुलित मध्य में तीसरी आंख की धारणा इन दोनों आंखों के पार है वो फिर दोनों आंखें उस आंख के मुकाबले संतुलित हो जाती हैं दाया बाया दोनों खो जाता है अंधेरा प्रकाश दोनों खो जाता है दो आंखें समस्त द्वैत के प्रतीक हैं ये दोनों खो जाते हैं और फिर एक आंख ही देखने वाली रह जाती उस एक आंख से जो देखा जाता है वो अद्वैत है और दो आंख से जो देखा जाता है वो द्वैत है दो आंख से जो भी हम देखेंगे वो संसार है और वहां विभाजन होगा और उस एक आंख से जो हम देखेंगे वही सत्य है और अविभाज्य इसलिए शिव का तीसरा नाम है त्रिलोचन उनकी तीसरी आंख पूर्ण सक्रिय है और तीसरी आंख के सक्रिय होते ही कोई भी व्यक्ति परमात्म सत्ता से सीधा संबंधित हो जाता इन तीन नामों से और और अनेक नामों से जिसे पुकारा गया है जो समस्त चराचर का स्वामी और शांति स्वरूप है ये सब विपरीत गुण है क्योंकि स्वामी किसी भी चीज का हो शांति स्वरूप नहीं हो सकता जैसे ही आप किसी चीज के स्वामी बने कि अशांति शुरू हुई स्वामी बनना ही मत नहीं तो अशांति शुरू होती क्योंकि स्वामी का मतलब यह है कि कोई दास बना लिया गया और जो दास बन गया है वो आपसे बदला लेगा स्वतंत्रता उसकी कुंठा में पड़ गई वो आपसे बदला लेगा पतियों ने स्वामी बनकर जैसे कष्ट उठाए हैं उसका हिसाब लगाना मुश्किल क्योंकि जिसके वो स्वामी बने हैं वो 24 घंटे उनको बताता ही रहेगा कि स्वामी असली कौन है ठीक से समझ लो तो पत्नी को 24 घंटे सिद्ध करने में लगा रहना पड़ता है कि स्वामी कौन पत्र वगैरह में वो लिखती है स्वामी आपकी दासी लेकिन 24 घंटे बताती है कि स्वामी कौन है एक संघर्ष अनिवार्य है जहां भी स्वामित्व है वहां अशांति होगी स्वामित्व अशांति की शुरुआत है जब तक पति स्वामी के पद से नीचे नहीं उतरता तब तक उसके और पत्नी के बीच कोई मैत्री संभव नहीं लेकिन इसमें सूत्र में कहा है कि स्वामी सारे जगत का सबका और शांति स्वरूप तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि यह स्वामित्व किस, किसी और गुणधर्म का होगा यह स्वामित्व दावेदार नहीं है परमात्मा कभी आके आपसे नहीं कहा है कि मैं स्वामी हूं सबका हाँ अनेक अनेक लोगों ने जरूर उसके चरणों में जाकर कहा है कि मैं दास हूं तुम स्वामी हो ये वक्तव्य दूसरे की तरफ से आया है ये वक्तव्य परमात्मा की तरफ से नहीं आया है परमात्मा की तरफ से स्वामित्व का कोई दावा नहीं है इसलिए परमात्मा शांत है अन्यथा परमात्मा की गति वैसी हो जैसी किसी पॉलिटिशियन की कभी नहीं हुई अगर वो दावा करे कि मैं स्वामी हूं इस सारे चराचर का तो ये सारा चराचर जगत उसको इसका मजा चखा दे स्वामी तुम कैसे हो परमात्मा के स्वामित्व की कोई उद्घोषणा नहीं इसलिए कोई चिल्ला के भी कहता रहे कि तुम हो ही नहीं तो भी उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता क्योंकि उतना उत्तर भी स्वामित्व का दावा हो जाए उतना उत्तर भी स्वामित्व का दावा हो जाए निरुत्तर परमात्मा मौन है उसके स्वामित्व का अनुभव उन्हें होता है जो उसके दास बन जाते ये दास बन जाना बहुत अलग है दास बनाए जाते हैं दास बनते नहीं दुनिया में कोई किसी का दास बनता नहीं दास बनाए जाते हैं और जब दास बनाए जाते हैं तो कोई मालिक की घोषणा करता है और तब अशांति स्वाभाविक हो जाती लेकिन परमात्मा की खोज में जाने वाला व्यक्ति अपने हाथों दास बन जाता है उसका जो कभी मालिक बनने की बात ही नहीं उठाता ये जो दासता है स्वेच्छा से वर्ण की गई ये बहुत मजेदार ये मजेदार दो कारणों से है एक तो जब कोई स्वेच्छा से अपने ही संकल्प से परमात्मा के चरणों का दास हो जाता है तो वो परमात्मा को ही मालिक नहीं बनाता वो अपना भी मालिक हो जाता है क्योंकि अपने ही हाथ से किसी का दास बन जाना बड़ी से बड़ी मालकियत है बड़ी से बड़ी शक्ति का सबूत है क्योंकि चित्त राजी नहीं होता दास बनने को बिल्कुल राजी नहीं होता प्राण गवाही नहीं देते हैं सब रग रग, रग रुआ रुआ इंकार करेगा लेकिन कोई आदमी और ऐसी अवस्था में जबकि परमात्मा आता नहीं कहने की दास बनो मिलता नहीं मालकियत की घोषणा नहीं करता कोई आदमी अपने ही हाथ जाता है उसके अज्ञात चरणों में रख देता है सिर और कहता है कि मैं दास हुआ तुम मेरे स्वामी हो यह आदमी उसको तो मालिक बना ही रहा है यह आदमी ये भी कह रहा है कि मैं अपना मालिक हूं अपने मन का अपने संकल्प का अपनी वासना का अपनी आकांक्षा का अपनी कामना का अपनी आत्मा का मालिक हूं चाहूं तो ये मालिकियत मेरी इतनी बड़ी है कि मैं दास भी बन सकता हूं बिना बनाए जो बनाए जाने से बनता है उसकी आत्मा कमजोर होती है जो बिना बनाए बन जाता है उसकी आत्मा सबल हो जाती है अगर मैं आपको किसी तरह गुलाम बना लूं तो मैं आपकी आत्मा को कमजोर करूंगा अगर आप बनने को राजी हो गए जबरदस्ती से तो आपकी आत्मा टूट जाएगी नष्ट हो जाएगी ठीक इसके विपरीत अगर आप गुलाम बनने को राजी हो जाएं बिना किसी बनाने वाले के तो आपकी आत्मा बलशाली हो जाए मुझे ख्याल आता है निरंतर मैं कहता रहा हूं डायोजनीस घूमता था एक जंगल में कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया ये बहुत अद्भुत आदमी था यूनान में महावीर के मुकाबले ये अकेला आदमी हुआ नग्न ही रहता था बड़ा सुंदर व्यक्तित्व था उसका बड़ा बलशाली गरिमावान कुछ लोग गुलामों के बाजार की तरफ गुलाम बेचने जा रहे थे इसको जंगल में अकेला देख कर उन्होंने सोचा कि अगर ये फंदे में फंस जाए तो अच्छे दाम मिल सकते ये बेचा जा सकता बाजार में लेकिन हिम्मत इसको आठ आदमी भी पकड़ पाए तो मुश्किल मालूम पड़ता है बहुत बलशाली बहुत गरिमावान आत्म प्रतिष्ठ उनको चिंता मशवरे में पड़े देखकर डायोजनीज ने कहा कि मालूम होता है तुम किसी चिंता में पड़े हो अक्सर लोग मुझसे पूछने आते हैं किन्हीं की कोई समस्या होती तो मैं हल कर देता हूं अगर तुम्हारी कोई समस्या हो तो मुझे बताओ उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल हुई समस्या कुछ ऐसी है कि कैसे बताएं डायोजनीज का तुम बेफिक्री से बताओ उन्होंने हिम्मत जुटाई उन्होंने कहा मामला ये है हम सोच रहे हैं कि तुम्हें गुलाम कैसे बना ले और जंजीरों में बांध के तुम्हें हम बाजार में ले जाकर बेचना चाहते हैं अच्छे दाम मिल जाएंगे डायोजरीन ने कहा कि नेक इरादा है और इसमें अड़चन कुछ भी नहीं डायोजनी उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा जंजीरें कहा लोग घबराए कि यह आदमी खतरनाक मालूम पड़ता है डायोजनीज ने उनका झोला निकाला उसने जंजीरें निकाली हाथ में जंजीरें बांधी जंजीरों की लगाम उनके हाथ में दे दी और कहा कि रास्ता कौन सा है चलो पर उन्होंने कहा तुम ये कर क्या रहे हो डायोजनीज ने कहा हम अपने मालिक हैं हम गुलाम भी हो सकते हम अपने मालिक हैं कोई हमें इस दुनिया में गुलाम नहीं बना सकता लेकिन हम चाहे तो बन सकते हैं कोई हमें रोक नहीं सकता अब तुम हमें रोक ना पाओगे अब तुम्हें हमें ले चलना ही पड़ेगा अब हम बाजार में बिकेंगे ही बड़े डरते हुए पहली दफा ऐसा हुआ कि मालिक पीछे चलने लगे और गुलाम आगे चलने लगे और वो इतनी तेजी से चलता था बहुत स्वस्थ आदमी था कि पसीने पसीने लथपथ हो गए उसके साथ भागना पड़ा करीब करीब उन्हें और कई बार उन्होंने कहा कि डायोजनी जरा धीरे भी चलो डायोजनी ने कहा हम अपने मालिक और हम किसी की सुनते नहीं बाजार में पहुंच गए भीड़ इकट्ठी हो गई उन उन लोगों की इतनी हिम्मत न पड़े किसी से कहने कि हमें गुलाम को पकड़ लाए बल्कि वो ऐसा मालूम पड़े कि उसके कुछ सेवक वगैरह हैं क्या मामला है डायोजनी ने कहा पागलो घोषणा करो बाजार उठने के करीब है सांझ हो गई है डायोजनीस टिकटी पे उठ के खड़ा हो गया चढ़ के जिस पर गुलाम लीलाम किए जा रहे थे और डायोजनीस ने चिल्ला के जो बात कही वही कहने को मैंने ये कहानी कही उसने चिल्ला के कहा कि ए गुलामो सुनो एक मालिक आज बाजार में बिकने आया ये जो मालकियत है ये कुछ कुछ और ही आयाम है चेतना का परमात्मा के चरणों में जो अपने हाथ से गुलाम बन जाता है उसकी मालकियत का हिसाब लगाना मुश्किल है लेकिन परमात्मा सबका स्वामी और शांति स्वरूप है उसकी स्वामित्व में कोई अशांति नहीं है क्योंकि कोई दावा नहीं है समस्त भूतों का मूल कारण और साक्षी है सभी भूत उससे निष्पन्न होते प्रकट होते उसी में लीन होते और इन सब के जीवन में जो भी घटित होता है वो उसका देखने वाला भी वो उसका साक्षी भी इसे थोड़ा ख्याल में लेना उचित होगा क्योंकि एक मौलिक धारणा है पश्चिम के धर्म कहते हैं कि परमात्मा नियंता है कंट्रोलर है पूरब का धर्म कहता है परमात्मा साक्षी है विटनेस है क्योंकि परमात्मा अगर नियंता है तो उसे प्रतिपल अपनी मालकियत को घोषणा करना पड़ेगा अगर वो नियंता है तो उसे घड़ी घड़ी हिसाब रखना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो ये मत करो इसलिए अगर हम यहूदी ईश्वर की भाषा सुने तो हमें बहुत कठोर मालूम पड़ेगी कि मैं जला दूंगा मैं आग लगा दूंगा मैं मिठा डालूंगा अगर तुमने ऐसा किया तो नरकों में सड़ाऊंगा इस तरह की भाषा यहूदी ईश्वर के मुंह में डाली गई क्योंकि वो नियंता है कहता है तुमने अगर ऐसा किया तो मैं इसका बदला तुम्हें ये चुकाऊंगा लेकिन ऐसी भाषा भारतीय ने कभी भी ईश्वर के मुंह में डालने की कल्पना भी नहीं की क्योंकि बेहूती है और अगर नियंता मानते हैं तो फिर इस तरह की भाषा उसके मुंह में रखना पड़ेगी अगर नियंता मानते हैं तो फिर चाहे कितने ही भद्र शब्दों में रखें ये भाषा उसके मुंह में रखनी पड़ेगी फिर वो घड़ी घड़ी हर चीज में कहेगा ये करो और ये मत करो और जो ऐसा करेगा उसे ये मिलेगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो ये दंड पाएगा वो 24 घंटे ईश्वर जो है वो एक पुलिस फोर्स हो जाए एक एक नियंत्रक शक्ति हो जाए जो कि भारतीय मन को कुरूप लगी है भारतीय मन की धारणा और है भारतीय मन कहता है वो साक्षी है वो केवल देखता है कि तुम क्या कर रहे हो वो इतना भी नहीं कहता कि ये मत करो बस सिर्फ देखता है और अगर उसका सिर्फ देखना काफी नहीं है तो कहना क्या है कहना भी क्या करेगा पर साक्षी उसे कहने का बहुत गहरा कारण है और वो गहरा कारण साधना से जुड़ा है अगर आप भी अपने जीवन के नियंता न रहकर साक्षी हो जाएं, तो आप ईश्वरत्व को उपलब्ध होने शुरू हो जाए हम सब अपने जीवन के नियंता हैं ये बुरा विचार नहीं आना चाहिए ये अच्छा विचार आना चाहिए ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए हम नियंता हैं हम अपनी छोटी छोटी दुनिया के ईश्वर हैं नियंता ईश्वर कंट्रोलर सो बड़ा दुख हम पाते कुछ नियंत्रण तो कर नहीं पाते सिर्फ पीड़ा पाते ये नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो होकर रहता है और जो होना चाहिए वो नहीं होता है रोज रोज हारते हैं रोज रोज टूटते हैं और ये नियंता जो अहंकार है भीतर ये सिर्फ पीड़ा की एक लंबी कथा हो जाती नहीं अपनी अपनी छोटी छोटी दुनिया में एक एक आदमी भी अगर साक्षी हो जाए वो सिर्फ जाने की ऐसा हो रहा है रोके ना बाधा ना डाले अच्छे बुरे का हिसाब ना करे सिर्फ देखता रहे अगर बिल्कुल निष्पक्ष हो ये दर्शन तो बुरा भी गिर जाता है और भला भी गिर जाता है इस निरीक्षण के समक्ष न बुरा टिकता है न भला टिकता है दोनों गिर जाते इस निरीक्षण की साक्षी की क्षमता व्यक्ति में पैदा हो जाए तो ही उसे पता चलता है कि इस विराट विश्व के भीतर परमात्मा किस अवस्था में होगा वो साक्षी की अवस्था में होगा छोटा छोटा परमात्मा हमारे भीतर है छोटी छोटी दुनिया हमारे चारों तरफ है उसमें हम दो तरह का व्यवहार कर सकते हैं नियंता का या साक्षी का ईश्वर को साक्षी कहने से प्रयोजन है कि हम भी अपनी अपनी छोटी दुनिया में साक्षी हो जाएं तो हम ईश्वर हो जाते और एक बार हमें साक्षी का पता चल जाए तो हमें पर पता चलता है कि ईश्वर की शक्ति उसके साक्षी होने की शक्ति अविद्या से दूर जो है मुनिजन उसका ध्यान करते हैं ऐसे ईश्वर की धारणा का जो साक्षी है नियंता नहीं जो शुभ अशुभ दोनों का संतुलन होकर दोनों के अतीत हो गया है जो ना अच्छा है ना बुरा दोनों के पार है जो द्वैत में नहीं देखता दो आंखों से नहीं देखता एक तीसरी आंख से जीता और देखता है एक अद्वैत की दृष्टि जहां एकमात्र अनुभव रह गई है ऐसे ईश्वर की धारणा ऐसे ईश्वर का ध्यान ऐसे ईश्वर में समाधि मुनिजन करते हैं तो अगर ईश्वर की धारणा ही बनानी हो बिना धारणा बनाए चल जाए तो बहुत शुभ अगर धारणा ही बनानी हो तो फिर बहुत सोचकर बहुत वैज्ञानिक धारणा बनानी चाहिए और ये ये जो कहा गया है बहुत सोचकर बहुत वैज्ञानिक है और इससे छलांग लगाने में कठिनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि साक्षी में छलांग का सूत्र छिपा हुआ है जिस चीज के भी हम साक्षी हो जाएं, उससे हमारा तादात्म निर्मित नहीं हो पाता उसके साथ हम एक नहीं हो पाते उससे हम दूर बने रहते हैं भिन्न बने रहते अगर ये ईश्वर की धारणा का भी सहारा ले और इसके भी साक्षी बने रहें तो शीघ्र ही इस धारणा के भी पार उठ जाने में अड़चन न आएगी सीढ़ी छूट जाएगी और संसार से हम उस दूसरे संसार में छलांग लगा लेंगे जिसे ब्रह्म कहें ईश्वर कहें मोक्ष कहें निर्वाण कहें या जो भी कहना चाहें Meditation is objectless. If you use any object, then it is not meditation. It becomes thinking. It becomes contemplation. It becomes reflection, but not meditation. This is the most essential point to be understood. This is the essence of a meditative state that it is objectless. Only consciousness is there, but not conscious about anything. Consciousness without being conscious of anything. This is the nature. of meditation, but this may create a very depressed mood. This may create pessimism in the mind because it is so difficult to throw even a single thought out of the mind that how one can conceive to be totally thoughtless it is so difficult to get rid of one object of the mind that it is inconceivable how to be totally objectless how to be just a mirror how to be just conscious without being conscious of anything we are never conscious without being conscious of anything. Something is always there. And there are some psychologists, some schools of psychology which say that it is impossible to be conscious without any object. Consciousness to them means consciousness of something. Something must be there. Otherwise you will go to in sleep. Otherwise, you will become unconscious. But yoga says that ordinarily this is right. As far as ordinary mind is concerned, if there is no object, the mind will go down in sleep, slip down into unconsciousness. We also are aware of it. If you are thinking something in the night, then sleep becomes impossible. Because if some object is present in the mind, then you cannot drop into sleep, into unconsciousness. So if you are thinking, then you cannot go in sleep. You go in sleep only when thinking has ceased. Have you tried ever, thinking has ceased there is no sleep only then you will understand what, what is meant by meditation but we never know any moment like that when thought ceases thinking ceases sleep takes over you are not even aware when the sleep has come you become unconscious this is what hypnosis uses as a technique hypnosis any method of hypnotism, any method uses only this technique to fix the mind somewhere on one object so much intensely that the mind becomes bored of one object. This is the tendency of the mind. Mind needs novelty, something new, every movement, then it, it feels alert. If you are in a situation where you have to be aware of only one thing repetitively, then mind feels bored and boredom becomes the gate of sleep. So hypnotism uses it. It will give you any object to concentrate over over it to concentrate your total consciousness on it, then you will feel bored, by and by sleepy, and then sleep will take over. The very word hypnosis means just induced sleep. So sleep can be induced if mind is devoid of thoughts. But yoga says this is right as far as ordinary mind is concerned, but this is not right for for a meditative mind. Through meditation, mind takes a new quality and it becomes possible to be conscious without thoughts. But it is difficult and to take the jump is arduous. In Zen, there are two schools one is known as sudden enlightenment school and another as gradual enlightenment school. The sudden school says that any enlightenment is sudden. You have to take a jump from thought to no thought, from ignorance to knowledge, from sleep to enlightenment you have to take a sudden jump. But there are very few followers of the sudden school. There cannot be. Because it, it is inconceivable. There is another school which is known as gradual enlightenment school. There are many, many followers of it. Because the moment one says gradual, we are at ease now we can do something and in steps gradually in degrees we can proceed in a sudden phenomena there is no time so you cannot postpone you cannot say tomorrow if the phenomena can happen suddenly this very moment then your mind cannot excuse itself. There is no no basis to postpone it. With a gradual school, you can say, okay, we will try in this life, and if not in this life, then in, in another life. Gradually, we will reach to the peak. One step, second step, by steps, we will reach to the ultimate then you have to divide but this upanishad belongs to neither this is neither sudden nor gradual this upanishad takes a middle way it says it is difficult to take a sudden jump and it is tedious and long to think in terms of degrees then you can go on thinking in infinite degrees. So this Upanishad says only one step is enough. Neither sudden nor gradual. Only one step. Only one step in between. To be objectless, to be thoughtless and conscious is the goal only take one step from many thoughts to one thought and from one thought to no thought. This one thought is suggested in this sutra. This sutra says, by meditating upon the Lord Parmeshwara, the highest Lord, the all-powerful, the three-eyed, and the ever silent, the meditator reaches him who is the source of all manifestation, the witness of all, and who is beyond all ignorance. From the world to the ultimate, take any image of God as a single step. This will look strange because we think God as the ultimate, but Upanishads never think God as the ultimate. They say God is a step towards the ultimate. And the ultimate, they always use for the ultimate the term Brahma, the absolute. God, Ishvara, Parameshwara is just a step towards the ultimate. God is not the ultimate aim. God is just to be used as a technical help for the jump into the ultimate abyss. Use God as a jumping board from the worldly mind to the ultimate abyss. This image of God used as a technical help is very typical and strange because ordinarily religious mind feels that God is to be achieved. But yoga says God is also just a technical help. That's why there are systems of yoga which are godless. For example, even Buddhist system. Buddha never talks about God. He discarded. He created other steps. He discarded God. Mahavira never never uses the word God. He discarded. He used other techniques as jumping boards. But the ultimate remains the same. Hindus call it Brahma, Buddhist call it nirvana Jainas call it kaivalya the ultimate remains the same god used as a technical help any imagery any symbolism can be used but it must be such a symbol that when you have used it you are capable of discarding it buddha has told a parable he says some villages crossed a stream by a by a boat but then they thought this boat has helped us so much otherwise to cross the stream was impossible so we must not discard this boat. Then they carried the boat on their heads into the town. Then the whole village gathered and everyone began to ask, what is the matter? Have you come to sell this boat in the town? Or oh, why are you carrying? And the boat seems so old, just ruin. who will purchase it. And we have never seen anyone carrying boat on the head why you are recurring. So they said, this boat is not ordinary one. This has helped us to cross this stream. Without this, it was impossible to come to this village. So we cannot be ungrateful to it. Now we will have to carry it. Buddha always used this parable and he said every technique every symbol, every ritual is just a vehicle. The moment you have crossed the stream, discard it. Don't go on carrying it. Otherwise, you will be just stupid. But we can understand that those villagers were stupid, foolish, but as far as religious vehicles, techniques, boats are concerned, everyone carries them continuously. If if I give you a name Rama as a jap, as a as a repetitive method for your meditation, then one day it is bound to happen that you will come to me and will say, now I feel very blissful with this with this mantra. Now I am more at peace, more relaxed. Now I am more fresh. Now I am less disturbed. Now I am less tense. So now what to do more? And if I say to you that now drop this name, you have crossed this stream, you have come to the other shore, Not drop this name also. Then you will feel disturbed. I have used, I have advised many, and when I say to them that drop this, they say, What you are telling us? How can we drop this? It is inconceivable. We cannot do this. And this seems profane. How can we? This is a very holy name. And this has helped us so much that we cannot discard it not ordinary persons even a ramakrishna ramakrishna used the name of mother kali as a mantra continuously for years and then he achieved much through it but not the ultimate he achieved much but not the ultimate he became silent. He became purified. He became holy. He became everything that that we can conceive by a religious man. He became totally a religious man, but still a discontent within. Still a desire. The desire for the ultimate. He has not reached the end. Then he met a Vedanta teacher, Totapuri. And he said to, to Totapuri that I have reached a very deep silence, but, but still something is missing. I feel it. Something is missing. So what to do now? So Totapuri said, now drop the name of Mother Kali. Drop it. You are carrying the vessel. You are carrying the boat. You have crossed the river. Now don't carry this boat. Ramakrishna was absolutely disturbed. He said, What you are telling me? A person like you, a renowned teacher, what you are telling me to drop the name of Mother Kali? This is simply irreligious, unholy, what you are telling me. Don't tell me such things. He began to perspire. He began to tremble. A person like Ramakrishna. Totapuri laughed and he said, I knew this. You will feel very much disturbed. Your whole base is has to be disturbed. You have made it a foundation. Hitherto, this has been your base. Now this has to be disturbed. Otherwise, you cannot go further. For three days, Ramakrishna wept because he heard such irreligious words. He couldn't escape. He couldn't speak to anyone. He just closed his door, wept, cried, Mother, Mother, and wept. And Totavuri will come and knock at the door and will say, Ramakrishna, come to your senses drop this name. After three days, fasting, weeping, ramkrishna came out and he said, If you say, I will do it, but first let me go to the mother and take her permission. I cannot do it without her permission. This is how a boat can become so meaningful. And don't laugh at it. Even if you are in, in the state of Ramakrishna, this will happen. So Ramakrishna went to ask the mother. Of course, the permission was given. Because deep down, Ramakrishna himself felt that now this name is the only obstacle now. If it drops, consciousness will be totally pure. There will be no disturbance, only now this. But he couldn't utter it. He couldn't say it. He went to mother. There is no one. This was his own deep down unconscious which gave the permission. He asked the mother, if one goes in a very devoted way, continuously, to feel in an image the divine presence, his own deep unconscious becomes projected. And even from the image, things can come which are just being put by himself. It is his own unconscious, it is his own deep existence which responds. So the permission was given. He came, of course, weeping because the conscious was still clinging, clinging to the name. His own unconscious was ready. He was totally purified and this last step was to be taken had to be taken. It was a must. So the unconscious allowed him, but the conscious began to feel again guilty. He came, Totapuri said, don't feel any guilt. When the mother herself has allowed, now you drop it. So Krishna sat before Totapuri, closed his eyes, went in deep meditation. Tears are flowing. Hours pass. And Totapuri goes on saying, Now drop it. Don't continue. And he is continuing. Yes. Tears are flowing. He is weeping and trembling. He cannot stop. He opens his eyes and says, it, it seems impossible. I cannot stop. It seems impossible. It is absolutely impossible to stop. How can I myself drop the name? It is my heart of hearts. How can I drop it? This is just seems suicidal, as if I am killing myself. I cannot. And Bodhotapuri insists then try again, try again. Then Totapuri says, This is the last, and I will not remain here for any single moment. I am not going to remain here. I will leave this place. So try again only once. And he brought a piece of glass and he said, When you will be meditating, and when I feel that the image of Kali has come into your consciousness as an object. I will cut your forehead on the third eye spot with this piece of glass. And when I cut your forehead, you cut the image inside. So Ramakrishna said, but how can I cut it and by what? How can I cut it and by what? There is no weapon. Totapuri said, if you can create an image so alive by imagination, why you cannot create a sword? You have created the image of Kali so living, so radiant, so alive, so why not create a sword? You are so capable a man so imagine a sword and then cut it. Otherwise, I am to leave and you will not find me again. And Totapuri was a rare man. And to miss that man is to miss for lives. And Ramakrishna knew this, that this is the only man who can help who can help otherwise one will have to wait even for lives one and one is not certain that even after waiting for many lives a man like totapuri will be there so totapuri stood and he said now i leave you try ramkrishna closes his eyes he is weeping he is crying is screaming and then totapuri cuts the hedge and in a single stroke, Ramakrishna dares. This is the most daring thing. He dares, he cuts the image within. The image breaks into two. Tears stop, crying stops, and Ramakrishna begins to laugh, and Ramakrishna begins to dance. And Totapuri says, Now I am leaving, just tell me in one sentence what has happened. So Ramakrishna opens his eyes and says, the last barrier has dropped. And Totapuri disappeared. And Ramakrishna tried and tried for many years to find out the man again, to give him a thank. But Totapuri was not found again.